इस वक्त तो नैना के पिता भी विक्रांत को एक टक देखे जा रहे थे उनके भी मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था विक्रांत के चेहरे पर पसीना आना शुरू हो गया था उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो नैना के पिता से कैसे बात शुरू करे दरअसल अभी दो दिन पहले ही विक्रांत रेस्टोरेंट के भीतर जिस अधेड़ उम्र के शख्स से मारपीट करके आया था वो कोई और नहीं बल्कि नैना के पिता ही थे लग गए बुरी तरह लग गए विक्रांत मन ही मन बुदबुदाने लग गया उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था लग रहा है इस दुनिया में इतने इतफाक होते हैं सारे सिर्फ विक्रांत के साथ ही होते हैं वो सन्न होकर कुछ देर तक खड़ा रहा कहने के लिए उसके पास कोई शब्द ही नहीं था आखिर इतनी खराब किस्मत किसकी हो सकती है जो कि अपनी होने वाली वाइफ के फादर को ही पीट चुका हो विक्रांत को अचानक से उस दिन के कोडवर्ड का ध्यान आया और इसके साथ ही वो ये भी समझ गया कि आखिर में उस दिन जो आग कोडवर्ड मिला हुआ था उसका क्या मतलब था दरअसल अदृश्य शक्ति आग कोडवर्ड देकर विक्रांत की मुलाकात एक नए दोस्त से करवाना चाहती थी और वो नया दोस्त कोई और नहीं बल्कि हॉट पॉट चिकन वाले रेस्टोरेंट में मिला वो अधेर शख्स ही था शायद अदृश्य शक्ति का प्लान नैना के फादर के आगे विक्रांत का अच्छा इम्प्रेशन डलवाना था लेकिन विक्रांत ने उनसे जबरदस्ती भिड़कर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली थी विक्रांत को उससे अच्छा रिलेशन बनाना था ताकि वो शख्स आगे काम आ सके लेकिन विक्रांत ने इसका उल्टा किया जानबूझकर उससे भिड़ बैठा और अब वो उस घटना को याद करके पछताए जा रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब कैसे वो नैना के बाप से नजरें मिलाए शर्म के मारे वो इधर उधर देखते हुए अपनी गलती पर पछताए जा रहा था विक्रांत विक्रांत क्या हुआ विक्रांत को इस तरह अजीब रिएक्शन देते देखकर नैना ने उसे बुलाते हुए कहा ओह विक्रांत को ऐसा फील हुआ जैसे मानो उसे किसी ने नींद से जगा दिया था होश में आते ही उसने हड़बड़ाते हुए अपने ठीक सामने खड़े नैना के पेरेंट्स की तरफ देखते हुए कहा नाइस टू मीट यू इस वक्त यहाँ का माहौल काफी असहज हो उठा था दोनों पक्षों में शांति का माहौल था जो कि अमूमन जब लड़की का बाप अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से मिलता है तो होता नहीं है नैना भी काफी दिनों से पुलिस डिटेक्टिव के तौर पर काम कर चुकी थी ऐसे में वो सिर्फ विक्रांत और अपने फादर की नजरें देखकर समझ चुकी थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है सो उन लोगों को कुछ पल तक गौर से देखने के बाद नैना ने तुरंत ही विक्रांत और अपने फादर को देखते हुए सवाल किया आप लोग एक दूसरे को जानते हो क्या विक्रांत शर्म से लाल हो उठा उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो नैना को क्या जवाब दे आखिर कैसे वो नैना को बताए कि वो उसके पापा को दो दिन पहले ही एक रेस्टोरेंट में बुरी तरह से पीट चुका है वो अवाक होकर कभी नैना की तरफ देखता तो कभी उसके फादर की तरफ कुछ भी नहीं सूझ रहा था नहीं मैं तो नहीं मिला हूँ हम भला कैसे मिल सकते हैं अभी विक्रांत सक पकाया हुआ नैना के सवाल का जवाब ढूंढ ही रहा था कि अचानक से नैना के डैड ने जवाब दे दिया कैसे हो nice to meet you Naina के डैड ने भी अपने एक हाथ से वाइन का गिलास मुंह में लगाते हुए दूसरा हाथ विक्रांत के हाथ से मिलाने के लिए बढ़ा दिया विक्रांत उनके इस जवाब को सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रह गया उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नैना के डैड ने ऐसा जवाब क्यों दिया विक्रांत को इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि नैना के डैड उसे पहचानने से इस तरह से इनकार कर देंगे इसका कारण भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया फिलहाल अभी विक्रांत को इसकी सिर्फ दो वजह समझ में आ रही थी पहली वजह तो ये थी कि शायद नैना के पिता अपनी बेटी के सामने खुद के पिटने की बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं या फिर दूसरी वजह यह हो सकती है कि नैना के डैड उस घटना को किसी और कारण से सीक्रेट रखना चाहते हैं हो सकता है कि कोई पर्सनल रीजन हो ओए तुम्हें क्या हुआ है क्या सोच रहे हो नैना ने फिर से विक्रांत का हाथ पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा अरे अरे कुछ नहीं फिर से विक्रांत को मानो होश आया हो वो तुरंत ही हड़बड़ाते हुए बोल उठा तुम तुम्हारे पेरेंट्स मेरा मतलब अंकल आंटी तो बहुत यंग लग रहे हैं फिर उसने तुरंत ही नैना की माँ को देखते हुए और उन दोनों लोगों की बड़ाई करते हुए कहने लगा आप लोग तो इतने यंग हो कि आप नैना के पेरेंट्स लगते ही नहीं ऐसा लगता है जैसे आप दोनों नैना के भाई बहन हैं <laughs> आप जब नैना पैदा हुई थी तब आप दोनों की उम्र 18 से भी कम थी है ना उफ़ जब विक्रांत ये सब बोल रहा था तो वहां बगल में ही बैठा हुआ एक मोटा सा आदमी उसकी ये सब बातें सुन रहा था वो आराम से पानी पी रहा था लेकिन जब उसने विक्रांत की बकवास सुनी तो फिर अचानक से उसके मुंह से पानी बाहर आ गया क्या बकवास कर रहे हो नैना ने विक्रांत को आंखें दिखाते हुए कहा हम्म, नैना की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा वेल थैंक यू बेटा नैना के डैड ने भी विक्रांत की तरफ देखकर हल्का मुस्कुरा दिया उसने भी विक्रांत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा नैना ने मुझे बताया कि तुमने कई सारे केसेस सॉल्व किए हैं मुझे तो यकीन नहीं होता कि इतनी यंग एज में भी तुम इतने बड़े बड़े और पुराने केसेस कैसे सॉल्व कर सकते हो good job thank you thank you uncle Vikrant ने खुश होकर अपना सिर हिलाते हुए कहा विक्रांत अभी इन लोगों से बात कर ही रहा था कि अचानक से उसकी नजर बाहर थोड़ी दूर पर खड़े हर्ष और हर्षित पर पड़ी अगर उन लोगों ने अब नैना के डैड को देख लिया तो फिर तो सारा खेल खत्म ये सोचकर विक्रांत भागता हुआ उन लोगों को समझाने के लिए दौड़ पड़ा विक्रांत विक्रांत कहा विक्रांत को इस तरह भागते देखकर नैना को कुछ समझ में नहीं आया मैं मैं मैं टॉयलेट जा रहा हूँ उसने बिना नैना की तरफ देखे चिल्लाते हुए कहा विक्रांत यहाँ से भागकर सीधे ही हर्ष के पास पहुंचा ये लोग जस्ट अभी अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके यहाँ से अंदर जाने के लिए तैयार हो रहे थे विक्रांत सर क्या हुआ हर्ष ने जब विक्रांत के उतरे हुए चेहरे को देखा तो फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा अरे सर परेशान मत होइए हम लोग मैडम के पेरेंट्स से आपके बारे में सब कुछ अच्छा ही कहेंगे विक्रांत सीधे ही हर्ष का हाथ पकड़कर एक कोने में ले गया और फिर बोलना शुरू किया तुम लोगों में से कोई भी अंदर हॉटपॉट चिकन रेस्टोरेंट के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा समझ गए तुम लोग कोई कुछ बात नहीं करेगा क्या लेकिन हुआ क्या अनुष्का ने अचंभित होते हुए कहा उन लोगों को विक्रांत की बातों का मतलब समझ में नहीं आ रहा था फिर विक्रांत ने उन लोगों को अंदर की सारी सिचुएशन को अच्छे से समझा दिया अभी विक्रांत अपनी पूरी बात खत्म करके रुका ही था कि वहां पर नैना पहुंच गई हो गया तुम्हारा टॉयलेट यहीं आए थे तुम नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा गुड इवनिंग मैम नैना को देखते ही हर्ष ने कहा डोंट कॉल मी मैम सिर्फ नैना बोलो नैना नैना ने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा अच्छा चलो तुम लोगों को भी अपने मॉम डैड से मिलवाती हूँ इसके बाद हर्ष हर्षित और अनुष्का को लेकर नैना अंदर की तरफ चल पड़ी चूंकि ये तीनों लोग हॉटपॉट चिकन वाले रेस्टोरेंट में विक्रांत के साथ ही थे ऐसे में ये लोग अब नैना के डैड के सामने जाने में काफी नर्वस फील कर रहे थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग नैना के डैड से नजरें कैसे मिलाएं। ओए ऐसे क्या देख रहे हो सर को नमस्ते बोलो विक्रांत ने हर्ष को डपटते हुए कहा विक्रांत के इतना कहते ही ये तीनों लोग तुरंत ही नैना के डैड से हाथ मिलाने लगे लेकिन लेकिन उन लोगों में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि नैना के डैड के आगे एक भी शब्द बोल सकें ये लोग चुपचाप उनके बगल में खड़े हो गए